द्वितीय पृष्ठ में चलेगा सधेर धातुर विसरण गति से उपनिपूर्व से की प्रत्यांत रूपम उपनिषदिति ये चलेगा ये उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या क्लिप्ता अवयव शक्ति एवं प्रयोग संभव है उपनि सदृ धातु ये के अवयव शक्ति से ही यदि प्रयोग हो सकता है शब्द का तो उपनिषद शब्द की एक समुदाय शक्ति कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है जिस प्रकार वाक्य की शक्ति नहीं मानी जाती है शक्तम पदम पद की शक्ति है पद होता है जिसका कोई अर्थ है तो पद सम होता है वाक्य घटम एक व्याकरण के दृष्टि से तो पद है न्याय न्यायिक कहते पद समूह होता है वाक्य शक्त होता है पद घट एक शक्त है घट का अर्थ है अम भी शक्त है उसका भी अर्थ है कर्मत्व दोनों मिल जाने से घटम एक पद समूह हो गया वाक्य हो जाएगा घटम पूरा समुदाय की शक्ति नहीं होती है पद का अर्थ है अम पद का अर्थ है दोनों मिलकर के घट कर्म का घटम आनेय घट कर्म का आनयन इस अर्थ होता है इसलिए जिस प्रकार समुदाय पद समुदाय की शक्ति नहीं है इसी प्रकार उपनिषद में उपनि सदल धातु कोई प्रत्यय यद्यपि कोई प्रत्यय का लोप हो जाता है तो प्रत्यय होने पर ही प्रत्यय का लोप का अर्थ प्रसक्तस्य अदर्शनम वहाँ है किंतु उसका श्रवण उच्चारण नहीं होता है तो उसका अर्थ रहता है कर्ता अर्थ में कोई प्रत्यय होता है तो कर्तरी होने से उसका कर्ता जैसे पाचक में पाक कर्ता इसे सदृढ़ धातु का जो अर्थ उसका कर्ता अर्थ होगा उपनिषद का अर्थ सदृढ़ धातु का तीन अर्थ विसरण गति अवसाधन विसरण है शिथिल शिथिल होना शिथिलीकरण गति तो प्रसिद्ध गमनार्थ और अवसाधन है नाश इसका अर्थ है ये कहा केन पुनर् पहले भाष्य में आए उपनिषद शब्द से वेद्य वस्तु को विषय करने वाले विद्या ब्रह्म विद्या जिस ग्रंथ व्याख्यान करना इष्ट है ब्रह्म विद्या कहते हैं केन योगे योगेन उपनिषद शब्द ने विद्या उच्यते इति उच्चते किस अर्थ के योग से अव्यवर्थ से उपनिषद शब्द से विद्या क्यों कहते हैं किस अर्थ को लेकर के उच्यते कह करके उसका समाधान उत्तर देते हैं टीका में सदले विसरण गति अवसादन स्थिति धातुर विसरणम अर्थम आदाय योग वृत्ति माह विसरण है शिथिलीकरण उसको लेकर के योग वृत्ति एक समुदाय में अवयव है अवयव मिलकर के समुदाय होता है प्रत्येक अवयव शक्ति तो कहते समुदाय का एक शब्द अवयव की शक्ति है उसे योग उससे वाचक होता है शब्द अवयव के अर्थ से अवयव की शक्ति से वाचक होता है शब्द टिप्पणी में दिया है समुदाय शब्दस्य अवयव शक्ति योग तेन वृत्ति वृत्ति का वृत्ति का वाचकत्व समुदाय शब्द की अव, के अवयव है अवयव की शक्ति है उसी शक्ति का नाम हो गया शक्ति का योग अर्थ हुआ उसी योग से वृत्ति वाचक अर्थ होता है योग वृत्ति को लेकर कहते हैं जैसे पाचक में पच धातु नूल प्रत्यय पाक करता तो होता है इसी प्रकार यहाँ विसरण गति अवसाधन तीन में से विसरण अर्थम आदाय पहले विसरण अर्थ लेकर कहा उच्यते इति उच्यते ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत उपनिषद शब्दवाच्यां ब्रह्म वक्षमान लक्षणा विद्याम उपसद्ध उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति तेषां अविद्यादि संसार बीजस्य विशरणात् उसका अर्थ विशसनात् ये हो गया विशरण अर्थ को लेकर के और अवसादन अर्थ को लेकर के विनाशनाद इत तो अनेन अर्थ योग ना विद्या उपनिषदि तुच्यति विद्या उपनिषद इसे कही जाती है ये मुमुक्ष भाव जो मुमुक्ष हुए मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्ष हुए मुमुक्षु दृष्टानुसविक विषय वितृष्णा संत मुमुक्ष होने पर जो मोक्ष ही चाहता है तो विषय में वितृष्णा तृष्णा का अभाव दृष्ट और अनुसविक दो है दृष्ट प्रत्यक्ष है भोग होता है अनुसविक शब्द से क्रम से श्रवण होता है स्वर्ग भोग आदि अनुसविक अनुसविक भोग स्वर्ग है स्वर्ग भोग दृष्ट इसी लोक में भोग इसी के जो विषय है वितृष्णा उसमें तृष्णा रहित होकर के तभी मुमुक्षत्व सार्थक होता है वास्तव मुमुक्षुत्व तो तभी है यदि विषय से वैराग्य हो टीका में दिया विषय में वैराग्य कैसे होगा विशेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शनाद विरतः केचन मुमुक्षव प्रसिद्धा न सर्वे भवादृशः कामकायेति यच्छब्द न प्रसिद्ध अवद्योते के न कथयन्ति पूर्व कहता पहले बताया था ये विशिष्ट अधिकारी दुर्लभ है और सब प्राणी काम काम कलुषित चित्त होने से उपनिषद श्रवण से सब परामुख कोई प्रवृत्त नहीं होंगे तो ये ग्रंथ की व्याख्या करनी व्यर्थ है पूरा विषय ने कहा था तो कहते सब लोग श्रवण करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं सब लोग परांगमुख उपनिषद श्रवण से विरत नहीं है ठीक है किंतु कुछ ऐसे है विशेष क्षयिष्णुत्व आदि दोष दर्शनादि विरता केचन मोक्षव प्रसिद्धा कुछ मुमुक्षु है होते हैं जो सब छोड़ करके तपस्या करने के लिए छोड़ देते हैं सब संपन्न होकर के छोड़ कर भाग जाते हैं क्यों भाग जाते हैं विरत होकर के तो कैसे होगा वैराग्य कैसे होगा विषय में दोष दृष्टिकरण से वैराग्य होता है शोभनाभ्यास करेंगे संकल्प ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा विषय में विचार करते रहते तो फिर इच्छा हो जाती है हमको मिल जाए विषय में दोष भी है जो अत्यंत अशुद्ध अंतकरण है वो दोष उसको नहीं दिखेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा और विवेक की विचार करता दिखता तो अच्छा है क्या कोई फल ऐसे फल होता है बड़ा सुंदर दिखता है सुंदर दिखता है तो उसको खा लेना चाहिए ना नहीं जो नहीं अविवेकी बड़ा सुंदर उसको रख लेता है ऐसे फल बड़े-बड़े इतने फल है बड़ा सुंदर है पहले हरा हरा दिखा फिर पक जाएगा पीला लाल दिखा बहुत बढ़िया है उसको कोई अच्छा सुंदर देख लो क्या तोड़ेंगे तो अंदर जैसे काले बैटरी के अंदर काले-काले होते हैं ना ऐसे काला-काला भरा हुआ है हाथ लगाने की इच्छा नहीं होगी ऊपर से किंतु बड़ा सुंदर है तो विवेक जब जिस जानता है विचार करता है उसके अंदर क्या है उसको पकड़ेगा तो मिलेगा क्या ग्रहण नहीं करता है छोड़ देता है और जो नहीं समझता है लेकर रखता है छिपा कर रखता है कोई देख देगा तो ले लेगा विषय में गुण दोष है गुण तो जो दिखता है अज्ञान के कारण अपने वासना के कारण अच्छा लगता है दिखता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब विचार करके देखें विवेक विचार करता है उसके अंदर दोष क्या है तो इसे गुण दोष विचार करने पर विषय में दोष दृष्टि हो तो वैराग्य होगा और यदि आसक्ति ज़्यादा है वासना है तो दोष दिखने पर भी और दोष को नहीं विचार करके चलो खा लो बाद में जो होगा मिर्ची अधिकांश पेट में ज्वलन होता है और डॉक्टर ने मना किया मिर्ची मसाला नहीं खाना चाहिए किंतु जिसको इसे भोग करने का है उस समय आज तक खाली काल से नहीं खाएंगे उसको खा ले खा लिया तो फिर परेशानी फिर रोग डॉक्टर को कहने के लिए डर लगेगा कहेगा तो झूठ बोलेगा ठीक है क्या तो डॉक्टर क्या क्यों खाया आपने मिर्ची मना किया था ऐसे होता है कि कोई साधु क्या होते थे फिर वो अरसादी बीमारी हो जाती है और जो पीड़ित है दुख भो करता है उसके सामने खाद्य आता है तो दिखता नहीं ये लाल दिखता है ऐसे मिर्ची होगी पहले उसको मिर्ची दिखती है क्योंकि मिर्ची से इतने दुख भो किया है बिल्कुल यदि हो तो बिना विचार लाल दिखता है तो उसको पानी में डाल दिया पानी धो धो करके फिर निकाल कर थोड़ा खाया समझे उसको मिर्ची दिखती है और जो आसक्त हो तो बढ़िया सब्जी तो स्वाद क्या है उसमें सब्जी है या नहीं है क्या है पता नहीं लाल दिखने पर खुश है और जो दुखी विवेक विवेक करता है किसके कारण कष्ट होता है उसको दोष दिखता मिर्ची दिखती है इसी प्रकार सारे विषय में सारे विषय में जो अत्यंत आसक्त है वो देखता है बहुत आशा बहुत लगता है ऐसा किंतु वेग वे दर्श में है क्या जिसको हम अच्छा कहते हो क्या चीज है उससे क्या लाभ होगा ये विचार करने पर विषय में दोष दिखेगा सब विषय में दो दोष कौन सा विषय नित्य है बताओ सब विषय अनित्य है क्षयिष्णुत्व क्षय होने वाला ये प्रथम है विशेष क्षयिष्णुत्वम क्षयिष्णुत तो विनाशित नष्ट होने वाला स्वभाव तो नष्ट होगा धन संपत्ति बहुत इकट्ठे करते परिवार पुत्र आदि साधु होते शिष्य आदि मकान बहुत बना करने के लिए वो नष्ट होता नहीं तो वो भी रहेगा तो स्वयं शरीर नष्ट हो जाएगा जिसके लिए इतने बनाते हो तो स्वयं शरीर नष्ट हो चला गया तो भोग क्या करेगा और कोई विषय नित्य नहीं होता है क्षयिष्णुत्व या अनित्य तो हो गया और उसको मिलने से तृप्त हो जाएगा इस नहीं कुछ नहीं तो सोता है हमको थोड़ा भोजन मिल जाए तो अच्छा है भोजन मिल जाएगा तो थोड़ा मकान भी अच्छा है मकान मिल गया तो और बाकी कुछ आवश्यक भी अच्छा है वो भी मिल गया तो जिसके बाद अधिक धन होता है फिर और कुछ कुछ इच्छा होगी भीख मंगा भी सोचता है थोड़े अट्टा बच गया सोता है बहुत बचा रोज बचा तो कितने रुपया होगा फिर बाद में उसको ब्याज में देंगे इतने हो जाएगा बकरी रखेंगे गाय रखेंगे दूध के करेंगे रुपया हो जाएगा बहुत बहुत रुपया तो क्या करना मकान बनाएंगे पार बाद में शादी भी कर लेंगे शादी करें तो बच्चे भी हो जाएंगे बच्चे होने पर फिर पत्नी व्यस्त रहेगी जब इधर उधर बच्चे भागते फिरते रहेंगे पत्नी के ध्यान नहीं दे उसको जाकर तो थापड़ लगा देंगे लगा दिया थापड़ <laughs> इससे सोते होते थापड़ लगा दिया जो जो आटा बांधा था पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन में लगा देता पर आटा गिर गया ऊपर मनोराज्य करते करते यहाँ तक इतने सत्य तो बुद्धि हो जाती है बड़ा खुश होकर के खड़े होकर के भूखा है आटा थोड़ा अधिक मिल गया ऐसे विचार करते करते लगा दिया था पर आटा आटा भी चला गया नीचे गिर गया ये विषय में ऐसे ऐसे अच्छा विचार नहीं करने पर आगे आगे कितने कितने क्या होता है वो विषय में विचार करना पड़ता है नहीं तो तृष्णा धन संपत्ति अधिक होने पर भी वो धन संपत्ति ये धन है लक्ष्मी लक्ष्मी को कहते हैं विष की वही नहीं समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और उसी में से लक्ष्मी निकली तो विष की वही नहीं विष तो मार देता है और उसकी बहन मारती तो नहीं किंतु ऐसा ही प्राण उससे अधिक कष्ट देती है जो तो मार दिया तो मर गया विष खाया तो मर गया समाधि किंतु ये लक्ष्मी लक्ष्मी सारा जीवन भर दुख देती है मारती नहीं सारा जीवन भर दुख देती है आगे के लिए भी हाँ यदि उसका कोई सदुपयोग करे तब तो ठीक है नहीं तो इस जन्म में दुखी आगे मरने के बाद भी जाएंगे कहाँ पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा भीता नीति धन अधिकोन से भय चोर से क्या भय अपने पुत्र से भी भय है है होता है ना नहीं मालूम है पुत्राद विधन भाजाम हिति बाकी तो अन्य से भय राजा से भय चोर से भय भय है तो ये जितने जितने धन अधिक हो इतने इतने भय अधिक है सन्यासी सब छोड़ कर आ गया और किस चोर से भय करेंगे चोर आएगा तो कहेगा तुमको हमारे भोजन दे दो कुछ चोर यदि आएगा तो भिक्षा करेगा सन्यासी हमको खिला दो वो तो चोरी क्या करेगा उसके पास कुछ है तो फिर क्या खिलाएगा जोर से व्यवहार नहीं होगा विषय में दोष दृष्टि करने से वैराग्य होता है एक क्षयिष्णुत्व और एक साथ ही सहित्व संतोष कभी नहीं होता है जितने मिला और इच्छा और इच्छा बढ़ती है और जितने प्राप्त हो उसे अधिक दिखता है आगे थोड़ा मिल गया तो और इच्छा और थोड़ा मिलेगा तो और इच्छा इच्छा समाप्त तो नहीं होती विषय प्राप्त करके कोई इच्छा किसकी समाप्ति नहीं होती उस समय लगता है ऐसे पेट भर गया उस समय खाने की इच्छा नहीं उस समय तो बिल्कुल नहीं खा सकता है सामर्थ्य नहीं किंतु बाद में फिर इच्छा होती है इसी प्रकार तात्कालिक ही थोड़ी शांति लगती पुनः इच्छा है और इच्छा बढ़ती है इसलिए एक साथी से तो दो से सौ विषय में साथी समय मतलब तो उससे बढ़कर किसके पास और चाहने पर विषय प्राप्त हो जाएगा ये भी नहीं है जितने जो चाहते सब मिलता है ऐसा नहीं होता है अपने आप दिन एक दिन बैठ कर जप करो आज हमको हमको चीज खाना है एक चीज हमको खाना किसको नहीं बताऊं ये चीज खाना है जितने करोड़पति भी हो सोचे आज मुझे ये चीज खाना है किसको नहीं बताना ऐसे खाना है चाहेगा किसको नहीं कहेगा तो मिल जाएगा और कहने पर हमेशा मिल जाएगा करोड़ों रुपया है कहने पर नहीं मिला हमको चीज खाना है नहीं मिला कहीं से लाना है नहीं मिला तो रास्ता में कहीं पहुंच गया कुछ नहीं मिलता है तो जो चाहेगा क्या जो नहीं चाहता है प्राण बचाने के लिए नहीं मिलता है तो भी मांगना पड़ेगा किसको कोई कह रहा है तो मांगे हमको थोड़ा दे दो करोड़पति उनसे मांगेंगे नहीं मांगेंगे गाड़ी में गए रास्ता खराब हो गया गाड़ी खराब हो गई रास्ता में कहे रास्ता खराब होने से तो सब कांगले हो जाते हैं अभी बताए कोई महात्मा आए थे अभी जैसे हुआ ना ऊपर धनी गर्व सब समाप्त हो गए जो सब समान हो गए यदि सब चला गया कुछ नहीं रहा तो क्या है बाद में कोई बैंक में रुपया रखा होगा कोई कोई अपने परिवार को ये रुपया वो अलग है उस समय तो कुछ नहीं खाने के लिए भूखा कौन रहेगा गरीब या धनी धनी भूखा रहेगा <laughs> जब घर ही चला गया सब सब चला गया कोई आने के नहीं या जाने के नहीं रास्ता नहीं ऐसे स्थान हो गया पर कोई जाना आने के बीच में गंगा जी है मंदाकिनी है उस तरफ लोग है और जो ब्रिज हो ब्रिज तो ऐसा है दोनों तरफ टूट गया जा नहीं सकते आ नहीं सकते ना उधर कोई आएगा ना इधर से कोई जाएगा हेलीकॉप्टर से जाकर के उनको कुछ देते हैं थोड़ा कुछ मिलता है तो क्या क्या देंगे अटा दाल चावल नमक दाल चावल अटा और नमक बस ये नमक देकर बात तेल फेर देने में मुश्किल है किसमें तेल देंगे फट जाएगा तो इसे देकर के इतने में मिल जाए तो कितने आनंद खुश करके उबाल कर खा ले तो <clears throat> तो विषय में जितने धन संपत्ति होने पर भी कोई चाहने पर हमेशा मिल जाता है ऐसा नहीं है और सामान्य व्यक्ति जो चाहेगा चाहता तो बहुत चाहता है क्या मिलता है स्वयं देखे कितनी इच्छा होती क्या मिलता है नहीं मिलता सब चीज इसलिए विषय इच्छा करने से मिल जाएगा वो नहीं अच्छा इच्छा करे मिल गया यदि बहुत वस्तु प्राप्त हो जाए तो भी कृतार्थ हो जाएगा कृतार्थ नहीं होगा जिस लिए मनुष्य जन्म मिला वो सफल नहीं हुआ ऐसा बार-बार विचार करके जो आपके प्रारब्ध में इतने ही मिलेगा अधिक कम नहीं होगा इसको दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर क्या इच्छा करेगा बताओ यदि ये दृढ़ निश्चय हो गया प्रारब्ध में है तो मिलेगा तो नहीं नहीं मिलेगा तो क्यों इच्छा करना व्यर्थ इच्छा करने पर नहीं मिलता है और ये इच्छा प्रारब्ध में तो नहीं इच्छा करने मिलता है यदि आज ये अमुक चीज खाने के हाथ पर नहीं से आपको पता नहीं सामने आ गया खाना पड़ेगा साधु को क्या है जो चीज सामने खाना पड़ेगा जिस चीज चाहते तो नहीं मिलता है जो सामने आया उसको खाना पड़ेगा खाते हैं कभी से जो आपको अत्यंत प्रिय भी मिल जाता है कभी जो प्रिय नहीं भी मिलता है चाहते तो मिलता है इसे नहीं है इसी प्रकार सब चीज में विचार कर निश्चय करना पड़ता है प्रारब्ध में है तो मिलेगा तो नहीं तो नहीं मिलेगा तो व्यर्थ क्यों इच्छा करना ऐसा विचार करें विषय में वैराग्य हो तभी साधन होता आगे पहला है दोष दर्शनाद विरक्ता विषय में दोष दर्शन से जो विरक्त हो जाए ऐसे बहुत नहीं होते कुछ होते हैं केचन मुमुक्षव प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ऐसे होते हैं बहुत महापुरुष सब संपन्न होने पर छोड़ करके मां करके भोजन करके वेदांत श्रवण करते हैं तपस्या करते हैं न सर्वे भवादृशा काम काय वैति सिद्धांत कहता है शंका करने वाले को कि ऐसे कोई नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं तुम्हारे जैसे कामों को सब नहीं है जो कामना जिसकी ज्यादा है वो वेदांत श्रवण क्यों करेगा वो तो भटकेगा इधर उधर तो सब आपके जैसे नहीं है यदि यत् शब्देन प्रसिद्ध अवद्योतकेन कथयति यत् शब्देन ये मुमुक्षव ये यत् शब्द देते ना ऐसे जो है कोई नहीं बात नहीं जो ऐसे होते हैं वही विषय वितृष्णा होकर के उपनिषद वाच्याम उपनिषद शब्द का जो अर्थ है विद्या वो विद्या कैसा है वक्षमान लक्षणाम वक्षमानम लक्षणम यस्य जिसका स्वरूप आगे विद्या का स्वरूप कहेंगे विद्याम उपसद्य उपप्रक सदल धातु का कोई प्रत्यय क्या क्या लपे उपसद्य का तो उपगम्य प्राप्त करके उपसद्य का टीका में अर्थ किया यह सदन अवद्यतन कथेंदी हां एक आनुसविका दिष्टानुसविको आनुसविका है शब्द प्रतिपन्न स्वर्ग भोगादय शब्द से जो ज्ञात हुआ प्रत्यक्ष हम नहीं देखे थे कोई बाहर बहुत भोग क्या था अभी शब्द है यजेत स्वर्ग काम शब्द से ज्ञात होता है स्वर्ग भोगादि उपसद्य उपशब्द का अर्थ भाष्य में क्या उपगम्य उसका अर्थ क्या है प्राप्त करके क्या प्राप्त करेंगे आचार्य आचार्य उपदेशावलब्ध्वा आचार्य के उपदेश से प्राप्त करके पहले श्रवण करना होता है विद्या प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन क्या है श्रवण मन निदिध्यासन में प्रधान श्रवण आचार्य के मुख से श्रवण करना विधिवत आचार्य उपदेशात लब्ध्वा पहले श्रवण करके प्राप्त करे प्राप्त करने के बाद यावत साक्षात्कारम शीलयंती भाष्य में दिया है विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयंती तन्निष्ठ होकर निश्चय के द्वारा शीलयंती का अर्थ क्या टीका में आचार्य उपदेश प्राप्त हुआ श्रवण भी अर्थ हुआ जब तक साक्षात्कार तब तक तो शीलयंति का अर्थ संसार असंसार ऐक्य असंभावना आदि निरस्यंती तीर्थ संसारी एक एक असंसारी है संसारी जीव असंसारी परमात्मा दोनों एक कैसे होंगे दोनों में एकता कैसे होगी ऐक्य में पहले असंभावना है हो नहीं सकता है जीव अल्पज्ञ है मरने वाला ईश्वर के साथ एक कैसे होगा अल्प संसारी है असंभावना आदि से विपरीत भावना असंभावना विपरीत भावना का निराश करते हैं ये प्रतिबंधक है आचार्य श्रवण किया तुम ब्रह्म हो जीव ब्रह्म की एकता किंतु यहाँ असंसार असंसारी के साथ संसारी की एकता कैसे होगी असंभव है असंभावना और देह में अहम बुद्धि मैं ब्रह्म के चिंतन करता है मैं शब्द से अपरिचन देह को लेता है परिचन देह में अहम बुद्धि है विपरीत भावना आत्मा तत्व को नहीं जान करके देह को मानता विपरीत विपरीत भावना समझ में आ जाता है देह आत्मा नहीं देह मेरा है तो मैं नहीं हूं किंतु मैं कहते समय देह में अहम बुद्धि काल से इतने दृढ़ है चित अचित का तादात्म्य ग्रंथि उसका नाम देह जड़ है देह अहंकार आदि तक जड़ है उसमें चेतन का तादात्म अध्यास एकत्व भ्रम जब मैं मनुष्य कहते हूं समय शरीर के साथ एकत्व भ्रम है जब देख रहा हूं सुन रहा हूं कहते इंद्र के साथ सोच रहा हूं तो मन के साथ निश्चय कर रहा तो बुद्धि के साथ ऐसी प्रकार तादात्म अध्यास इतने दृढ़ है ये विपरीत भावना है इसकी निवृत्ति के लिए मनन निधिध्यासन पहले आचार्य देश से आचार्य उपदेशात लब्ध्वा आचार्य उपदेश से प्राप्त करना है श्रवण श्रवण करने के बाद मनन निध्यासन कब तक करना यावत साक्षात्कार साक्षात्कार होने तक शीलयंती का तो संसारी असंसार ऐक्य असंभावना आदि निरसंति असंभावना और विपरीत भावना का निराश असंभावना का निराश के लिए मनन करते हैं और विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निध्यासन करते हैं ऐसा जो निश्चय न शीलयंती तेषां अविद्याधे संसार बीजस्य विसरणाद विशेषणाद तेसा ऐसा करने पर अविद्या आदि से काम कर्म सो संसार का बीज कारण है विसरणाद पहले शिथिलीकरणाद शिथिल होता है पहले उसका अर्थ विसरणाद का थे विशेषणाद और दूसरा है अवसाधन अर्थ लेकर विनाशनाद विसरण गति अवसाधन विसरण और अवसाधन अर्थ भी है अब ये तो टीका में पहले कहा था विसरणम अर्थम आदाय तो विसरण अर्थ और अवसादन अर्थ भी यहां से विनाशनाद नाश करता की है विद्या अन विनाशनाद इति अनेन अर्थ योगना इस अर्थ से विद्या उपनिषदि तुच्यते विद्या ब्रह्म विद्या उपनिषदि से कही जाती है तथा च वक्षति निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते निचाय जान करके अवगम्य पम मृत्यु मुखात मुक्त हो जाता है प्रकर्षण मुच्यते फिर मृत्यु के मुख से मर जाता है मुक्त हो जाता है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है मुक्त हो जाता है नीचे आ कहता है ज्ञानत्वा साक्षात्कार करके आगे गत्यर्थ आदाय आह गत्यर्थ लेकर कहते पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म का मैत्रित्व न योगात ब्रह्म विद्योपनिषद अर्थ तो लेकर विस्तारण गति अवसादन पुरोत विशेषणान मुमुक्षुन पुरोक्तानि विशेषणानि येषाम विशेषण क्या है विषय वितृष्ण विषय दृष्टानुसव विषय वितृष्ण और साधन चतुर्थ संपन्न मुमुक्षे और आचार्य के पास जा करके श्रवण करते हैं मन निध्यासन करते हैं तब क्या होता है परम ब्रह्म गमयति श्रवण करके फिर एकत्व निश्चय करके तनिष्ठन तया निश्चय ने सिलाएंगे तेसाम ते तान परम ब्रह्म गमयति ब्रह्म विद्या मुमुक्षु को परम ब्रह्म प्राप्त करा देती है साक्षात्कार हो तो ब्रह्म की प्राप्ति होती इसलिए उपनिषद क्या होगी ब्रह्म गमयित्वेन प्राप्त कराने वाली है कर्तरी कोई भी ब्रह्म प्राप्त कराने वाले वन से इस योग योग कर्त को लेकर के ब्रह्म विद्या उपनिषद है तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्त विरोजो बुद्ध विमृत्यु इति ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को जो प्राप्त कर लेता है विरज रजो रहित विरज रज है विगत धर्माधर्म हो जाता है विरज का अर्थ रज है तो धर्माधर्म रहित विमृतु मृत्यु रहित मृत्यु शब्द से अविद्या काम आदि मृत्यु शब्द से कहा गया तद रहित होता है तो मुक्त हो जाता है अभी आगे टीका में अग्नि विद्यामपि अवसाधनम आदाय उपनिषद शब्द से वृत्तिमा ये वर तीन वर देंगे उसमें अग्नि विद्या भी इसमें कहेंगे अग्नि विद्या में भी अवसाधन अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ कहते उपनिषद शब्द से वृत्ति वर्तनम लोकादि लोकादिर लोकादिर यज्ञ योगनि तद विषया विद्याया द्वितीयन वर्णन प्रार्थ्यमानाया आगे कहेंगे लोकादि मग्नि लोकादि लोकानाम आदि लोकादि में लोका लोकानाम आदि लोकान भूरादि लोका के आदि है लोकानमादि आदि ब्रह्मज्ञ यो अग्नि अग्नि विराट रूप से कहेंगे टीका में भूरादि लोकानम आदि भूरादि लोक की उत्पत्ति से पहले प्रथम ज प्रथम ज प्रथम उत्पन्न होने वाला ब्राह्मण जात ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण जात हो गया ब्रह्मज ब्राह्मण जात ब्रह्मज सैव ज्ञ ब्रह्मजश्च सो इति ब्रह्मज्ञ जब ब्रह्म से जात हुआ और जानने वाला सएव जानाते तो ज्ञ ब्रह्मज्ञ यहाँ ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ लेना टिप्पणी में हिरण्यगर्भ से होता है विराट वही सब ज्ञान जानने वाला है और विराट को ही अग्नि शब्द से कहा ब्रह्मज्ञ यो अग्नि विराट है अग्नि तद विषय विद्या ये अग्नि विराट को विषय करने वाली विद्या द्वितीयन वरेण प्रार्थ्यमान आया नचिकेता द्वितीय वर से प्रार्थना करेगा स्वर्ग लोक फल प्राप्ति हेतु तेना ये अग्नि विद्या स्वर्ग लोक फल प्राप्ति का हेतु होने से उसको भी उपनिषद शब्द से कहते हैं स्वर्गलोक प्राप्ति हेतु होने से उपनिषद क्यों होगा विसरण अवसादन अर्थ विसरण अर्थ कैसे होगा तो अवसादन अर्थ कैसे होगा तो नाश अर्थ गर्भवास जन्म आदि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्यन प्रवृतस्य अवसादित्वेन शैथ्यलापदेन धात्वर्थ योगात अग्नि विद्यापि उपनिषद उच्यते ये टीका में कहा गया अवसाधन आदाय अवसाधनम आदाय एक उसमें टीका है गोपाल यतीन्द्र टीका उसमें तो अवसाधनम और विसरण दोनों अर्थ है इसमें अग्नि विद्या में दोनों अर्थ है आगे स्पष्ट होता है अवसाधन अर्थ है और विसरण शैथिल शिथिल का अर्थ क्योंकि गर्भवास जन्म जरा आदि उपद्रव वृंदस्य गर्भवास जन्म जरा आदि दुख संसार वृंद है समूह लोकांतरे पौन पुण्य न प्रवृतस्य अन्य लोक में भूलोक में जा बार-बार जन्म मरण प्राप्त करता है अवसादयित्वेन शैथिल्य आपादनेन अवसादन नष्ट करता है और शैथिल्य शिथिल कर देता है दोनों अर्थ आ गया शैथिल्य आपादन विसरण और अवसादने नाश जब अग्नि विद्या उपासना करे स्वर्ग को जाएगा विराट रूप को प्राप्त करेगा तो बार-बार गर्भ जन्म जरा आदि की प्राप्ति नहीं होती वो शिथिल होता है समाप्त कर देता है इसलिए अग्नि यो विद्या को भी इसी धातु अर्थ वेगात अवसाधन और विसरण शिथिलीकरण दोनों अर्थों को लेकर के अग्नि विद्या भी उपनिषद इत्युच्यते अग्नि विद्या भी उपनिषद है उपासना है वो भी उपनिषद रहस्य ज्ञान उसको भी उपनिषद कहते हैं तो ये उपनिषद शब्द गौण प्रयोग है तथा च वक्षति स्वर्गलोक अमृतत्वम भजन्ते स्वर्गलोक ये शाम जो यजमान का लोक स्वर्ग को प्राप्त करते अमृतत्वम भजन्ते अमृतत्व को प्राप्त करते अमृतत्व क्या स्वर्ग में जाने पर जो अमृत हो जाते हैं और देवत्व को प्राप्त करते देवत्व अमृतत्व या देवत्व गौण प्रयोग है देवता हो जाते हैं स्वर्गलोक में जा के एवं अच्छा ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारो ग्रंथमपि अभिलपन्ति शंका के तो उपनिषद शब्द से पढ़ने वाले तो ग्रंथ को कहते अभी हम उपनिषद पढ़ रहे ग्रंथ को कहते ये क्या पुस्तक है एक उपनिषद है ग्रंथ को भी तो उपनिषद पढ़ने वाले कहते हैं उपनिषदम है अध्यापयाम इति च उपनिषद पढ़ रहे अध्यापयाम पढ़ाते हैं तो इसे तो कहते ग्रंथों को कहते एवं नैष दोष सिद्धांत कहता है ऐसे कोई दोष नहीं टीका में दिया ग्रंथे तो भक्ति तो उपचारेण उपनिषद शब्द प्रयोग है इत्यर्थ ग्रंथे तो भक्त्या यहाँ भक्ति का अर्थ गौण गौण प्रयोग भक्त्या गौण है प्रयोग गौण वृत्तिया उपचार ने इसका अर्थ उपचार गौण प्रयोग गौण लक्षण लक्षणा से कहते अग्नि मानव को लड़का को अग्नि कह दिया इसी प्रकार ग्रंथों के भी क्यों ग्रंथ उपनिषद का प्रतिपादक उपनिषद ब्रह्म विद्या उसका प्रतिपादक कौन से ग्रंथों को भी उपनिषद कह देते हैं भाष्य में एवं नैष दोष अविद्यादि संसार हेतु विसरणादे है सदिधात्वर्थ से ग्रंथ मात्र असंभवाद विद्यां च ग्रंथ से अभी तादर्थन शब्द तो उपपते कोई दोष नहीं ग्रंथों को उपनिषद कहते ठीक है किंतु वस्तुतः अविद्यादि संसार हेतु विसरणादे है अविद्यादि अविद्या काम कर्म संसार के हेतु उसका विसरण करना शिथिल करना नाश करना जो सदि धातु का अर्थ ये ग्रंथ मात्र असंवाद ग्रंथ मात्र में नहीं ग्रंथ कितने पास में रखने से अविद्यादि विसरण नाश हो जाएगा जितने रखने खाली ग्रंथ मात्र से नहीं होगा ग्रंथ मात्र असंभवात और किस में संभव है किस में संभव है विद्यायां च संभवात विद्या में संभव ग्रंथ में असंभव इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या ही है तो फिर ग्रंथों को क्यों कहते हैं ग्रंथस्यापि तद शब्द तो उपपदे ग्रंथस्यापि तादर्थेन तदर्थत्वेन ग्रंथ में तदर्थ ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए ग्रंथ है ग्रंथ का अध्ययन करने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती ग्रंथ ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक साधना आदि बताता है शब्द स्वरूप बताता है सब कुछ बताते ग्रंथ इसलिए ग्रंथ भी तदर्थ होने से विद्या के लिए होने से तत्शब्द तो उपपति वो शब्द प्रयोग हो जाएगा का ग्रंथ का कार्य है ब्रह्म विद्या कारण है ग्रंथ प्रतिपादकत्वेन तो कारण में भी कार्य शब्द का प्रयोग कर दिया कार्य है ब्रह्म विद्या उसका प्रतिपादक ब्रह्म विद्या है प्रतिपाद्य ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ब्रह्म विद्या के ग्रंथ के द्वारा अब प्रतिपादक होता है ग्रंथ तो ग्रंथ हो गया कारण प्रतिपादक प्रतिपादन का कारण है प्रतिपादन का विषय है ग्रंथ विद्या तो ग्रंथ कारण में भी कार्यवाचक शब्द उपनिषद शब्द का प्रयोग कर दिया ऐसे होता है कार्य में कारण में कार्य में कारणवाचक शब्द आयुर्वेद घृतम इत्यादिवत घृतम शुद्ध गो घृतम आयुर्वेद शास्त्र में आया आयुवर्धक है रोगनाशक होता आयुवर्धक है तो आयुवर्धक घृत हो तो घृत हो गया आयु का कारण तो भी घृत को कारण को आयु शब्द से कहा गया श्रुति में आयु का वर्धक आयु का कारण घृत घृत को आयु का आयुर्वेद घृतम घृत ही आयु है घृत तो आयु नहीं आयु वर्धक है आयु के कारण होगा तो कारण में घृत में घृत आयु का कारण कारण को घृत को आयु शब्द से कहा गया इसी प्रकार प्रतिपादन का कारण ग्रंथ प्रतिपादन होता है विद्या का तो कारण में ग्रंथ में विद्यावाचक उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है गौण प्रयोग लक्षण से तस्माद् विद्यायां मुख्य आवृत्त्या उपनिषद शब्द वर्तते ग्रंथे तो भक्ति थी विद्या में ब्रह्म विद्या में मुख्या वृत्ति से अवयव शक्ति से उपनिषद शब्द वर्तते उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या में ही प्रयोग होता है मुख्य वृत्ति से और ग्रंथ में जो कहते ग्रंथ तो भक्त्या गौण प्रयोग लक्षणा से उसका प्रतिपादक होने से ग्रंथ को ही उपनिषद कह देते हैं तो उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या टीका में उपनिषद शब्द निर्वचनेन सिद्धमर्थमा उपनिषद शब्द का निर्वचन निरूपण हुआ क्या उपनिषद क्यों उपनिपूर्वक सद्य धातु से कोई प्रत्यय हुआ क्या सूत्र है किसके आदि बोलो सत्सु हम्म, फिर एक बार बोलो सत्सु याद नहीं क्या याद नहीं क्या याद करना लेना कोई पूछे उपनिषद पढ़ते तो उपनिषद क्या चीज है <laughs> फिर आकाश को देखना पड़ेगा ये आता है व्याकरण खसूची व्याकरण में कोई पूछा यहाँ क्या सूत्र लगा तो वो तो सूत्र नहीं बता पाएंगे कि नहीं देख दो तो क्या दिखता है आकाश में उधर ये जो ऊपर देखा वो भाग गया <laughs> पूछा क्या इसे कर दिया इसे करने से क्या है तो ऊपर देखा ऊपर देखा तो उसके बाद देखा क्या सूत्र लगा तो आगे सामने ही नहीं गया कहाँ चला गया वैयाकरण खसुचि आकाश को देखा वैयाकरण उपनिषद शब्द है ब्रह्म विद्या मुख्य अर्थ है ग्रंथ में गौण प्रयोग होता है से उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से क्या अर्थ सिद्ध हुआ एवं उपनिषद शब्द निर्वचन निर्वचने नैव विशिष्ट अधिकारी विद्याय मुक्त शब्द का निर्वचन कर देने से अधिकारी विशिष्ट अधिकारी विद्या में कथन हो जाता है शब्द से नहीं करने पर विशिष्ट अधिकारी कौन उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या जो आदि ग्रंथि को शिथिल करके नष्ट करती है ब्रह्म प्राप्त कराती है उपनिषद उसको कहा गया जो जो चाहता है फल चाहता है मुमुक्षु है अधिकारी जो विषय विरक्त होकर के श्रवण मनन करना चाहता है जिज्ञासु है जो मुख्य चाहता है वह अधिकारी है उपनिषद शब्द का श्रवण करने के लिए विद्या में वो अधिकारी है विषय ब्रह्म विद्या का विषय क्या विषय से विशिष्ट उक्तो विद्या परम ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम ब्रह्म विद्या है विद्या का विषय ब्रह्म किंतु ब्रह्म कैसा है अपने से भिन्न नहीं प्रत्यगात्मभूतम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म ब्रह्म स्वयं अपना स्वरूप है विद्या का विषय परम ब्रह्म परम ब्रह्म कौन से निरतिशय निरुपाधिक ब्रह्म जो ईश्वर है सोपाधिक है माया विशिष्ट है विद्या का विषय शुद्ध ब्रह्म जो अपने स्वरूप प्रत्यगात्मभूत अपने स्वरूप वास्तव स्वरूप अपना स्वरूप तो देह को पहले मैं मनुष्य कहते हैं मैं मनुष्य से लेकर के आगे आगे विचार करके पहुंचेंगे जो बुद्धि कहते बुद्धि को भी आप जानने वाले हैं जो बुद्धि को जानता वो आपका स्वरूप आप हुई है आपकी बुद्धि आप बुद्धि नहीं है देह इंद्रिया आप आपके होने से आप नहीं आप है उसको जानने वाले वही प्रत्यगात भूत जो बुद्धि का साखी वही ब्रह्म है वो विषय विद्या का ब्रह्म विद्या का विषय वही है प्रयोजन चस्य उपनिषद आत्यंतिक संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षण विद्या का फल यही प्रयोजन है आत्यंतिक संसार निवृत्ति संसारिक आत्यंतिक निवृत्ति संसार दुख है नहीं सुषुप्ति अवस्था में तो नष्ट हो जाता है कोई दुख नहीं है किंतु फिर जगने के बाद वही दुख है आत्यंतिक निवृत्ति है बाद फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती है दुख प्राप्ति नहीं होती है वो आत्यंतिक निवृत्ति कैसा है ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ब्रह्म प्राप्ति लक्षण यस्य ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप वेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्म प्राप्ति है भी गौण प्रयोग है ब्रह्म को प्राप्त किया क्या अपने स्वरूप है अज्ञान से अप्राप्त ब्रह्म है ब्रह्म नष्ट हो जाता है तो प्राप्ति कहते हैं ब्रह्म प्राप्ति गौण प्रयोग है माला गले में है ब्रह्म हो गया कहाँ चली गई माला कहाँ खो गई गले में है ढूंढता है पूरा मकान ढूंढ लिया फिर कौन आया कौन किसने लिए क्या हुआ सोता रहता है यदि गले में माला जान लिया कहता हाँ मिल गई मिल गई मिल गई बड़ी खुशी होकर कहता माला मिल गई मिल गया क्या था ब्रह्म अपने गल में पहले भी थे अभी भी प्राप्ति क्या हुई वो प्राप्त की प्राप्ति है ब्रह्म की निवृत्ति होने से प्राप्ति हो गई ऐसे गौण प्रयोग करते हैं ब्रह्म इस प्रकार कोई अन्यतर कहाँ है वहाँ को प्राप्त करना स्वयं जाना अथा स्वयं ब्रह्म आपके पास आएंगे ये नहीं ज्ञान होने पर अपने स्वयं ब्रह्म अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थित भगवान ने कहा गीता में सारे भूत में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ ब्रह्म तसृष्ट तदेव अनुप्राविशत सृष्टि करके वही ब्रह्म इसमें प्रविष्ट वही ब्रह्म उपलब्ध होता है एक ही तत्व है और बाकी यदि हम ब्रह्म हो गए बाकी सब लोग क्या है आप तो ब्रह्म हो गए बाकी सब जो दिखते हो ब्रह्म से भिन्न है क्या नान्य तुष्टि दृष्टा श्रोता मनता ये आत्मा है उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता है नहीं है ये सब जो दिखते हैं सपन प्रपंच जैसे भ्रांति है सपने भी दिखते आप अकेले ऐसे एक घरे सपने में देखते बहुत लोग है इसी प्रकार भी दिखते हैं और जड़ भी जितने जड़ चेतन सब चेतन कोई अलग नहीं चिदाभास को चेतन शब्द से कहते चेतन बिंब रूप चेतन एक है और कोई है नहीं दूसरा एक सारे सर्वम चैदम अहं च ब्रह्मैव सारे कुछ जगत और मैं ब्रह्म ही हूँ एक ही तत्व है ये ज्ञान है इसका प्रयोजन ब्रह्म प्राप्ति मुख्य ब्रह्म प्राप्ति होने से परमानंद है ब्रह्म उसकी अभिव्यक्ति कहते हैं परमानंद की अभिव्यक्ति परमानंद की प्राप्ति नहीं वो है वस्तु अंधकार में नहीं दिखती है प्रकाश से उसकी वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी या नहीं जो वस्तु नहीं दिखती प्रकाश जलाने पर उसकी उत्पत्ति होती है नहीं नहीं होती प्रकाश से क्या होगी अभिव्यक्ति वस्तु पहले है अंधकार से दिखती नहीं है प्रकाश लेंगे वस्तु की उत्पत्ति हो जाएगी उसकी अभिव्यक्ति होती है उत्पत्ति नहीं हो तो है पहले नहीं है तो घड़ा यदि नहीं तो कितने प्रकाश जलाने से घटा दिखेगा दिखेगा जितने प्रकाश हो तो नहीं दिखेगा है तो दिखेगा इसको कहते अभिव्यक्ति ना कि उत्पत्ति इसी प्रकार परमानंद की अभिव्यक्ति होती ज्ञान से अज्ञान के कारण अनभिव्यक्त है ज्ञान से अभिव्यक्ति उसको प्राप्ति कह देते कहीं-कहीं परमानंद की न्यायिक लोग कहते एक विंशति दुखों का आत्यंतिक ध्वंस यही मुख्य कहते हैं वेदांत में कहते केवल दुख ध्वंस अभाव रूप नहीं है विंशति दुख का ध्वंस तो अभाव रूप है मोक्ष कोई अभाव रूप नहीं इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति भी है और परमानंद की अभिव्यक्ति भी है इस दिया है दोनों वो मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप है संसारिक आत्यंतिक निवृत्ति संसार की निवृत्ति संसार के एकविंश दुख का अभाव एकविंश दुख का ध्वंस कोई कहते जब ब्रह्म तो रह गया और एकविंश दुख का ध्वंस भी रह जाएगा सारा जगत कहां जाएंगे उनका भी ध्वंस हो जाएगा तो एक ब्रह्म और बाकी एकईश दुख का ध्वंस एकविंशति दुख का ध्वंस एक एक एक को देख तो के ध्वंस एकविंशति दुख गिनते करते छह इंद्र छह विषय छह बुद्धि कितने हो गए और सुख दुख शरीर मिला दो सुख दुख दोनों दुख के अंतर्गत जिसको सुख सुख कहते हैं ये दुख किसी दुख के अंतर्गत है वो सुख नहीं है सुख दुख है जिसको सुख समझते हैं सुख नहीं है तो उसमें एकविंश दुख का ध्वंस ध्वंस अभाव है अभाव एक पदार्थ रहेगा ब्रह्म भी एक रह गया और ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति कहे तो अविद्या की निवृत्ति अविद्या का ध्वंस वो भी एक रह जाएगा कितने ध्वंस रहेंगे तो अद्वैत ब्रह्म कैसे हुआ ये कहते ध्वंस अभाव वस्तु तो अधिकरण से अलग नहीं होता है ध्वंस अभाव को अधिकरण से अलग पदार्थ नहीं मानते ध्वंस कोई नाम का पदार्थ नहीं अधिकरण से भिन्न इसलिए एकम से दुख ध्वंस ध्वंस से उपलक्षित है ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मुख्य और संबंध से एवं भूत प्रयोजन अनुक्त प्रयोजन के साथ संबंध ब्रह्म विद्या का संबंध ब्रह्म विद्या का फल है और संबंध ग्रंथ के अर्थ में संबंध अर्थ होता है प्रतिपाद्य ग्रंथ होता है प्रतिपादक प्रतिपाद्य प्रतिपादक हुआ संबंध भी अतो अच्छा टीका में आत्यंतिक निदान निवृत्ति निवृत्ति टीका में दिया आत्यंतिकी निदान निवृत्ति अनिवृत्ति विवक्षित आत्यंतिकी निवृत्ति आत्यंतिक निवृत्ति कैसे है निवृत्ति तो नाश आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ निदान निवृत्तिया मूल कारण की निवृत्ति हो तो आत्यंतिक निवृत्ति रोग का मूल कारण निवृत्त हो गया तो रोग की आत्यंतिक निवृत्ति अब मूल कारण निवृत्त नहीं होकर के थोड़ा कुछ देकर बुखार को दबा दिया दूसरे दिन फिर आ गई तो आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है निदान है मूल कारण मूल कारण है आदि कारणम निदान का अमर को पंक्ति टिप्पणी में दिया निदानम तो आदि कारणम इति अमर आदि कारणम मूल कारण है मूल कारण अविद्या है अविद्या की निवृत्ति हो जाने से की निवृत्ति है अविद्या सुषुप्ति अवस्था में रहने से फिर जगना पड़ता है फिर दुख प्राप्ति ज्ञान हो जाने से अविद्या निवृत्ति हो गई तो मूल कारण निवृत्ति होने से की निवृत्ति विवक्षित निदान में क्या है निदान मूल कारण कैसे निदानंच अन्य वितरक शास्त्र न्यायभ्य संसार से आत्मिकत्व विद्या कारण कार्य निश्चय करने के लिए एक युक्ति है अन्य वितरक आख्य अन्य वितरक युक्ति है घाट बनाने के लिए सब है कुलाल है दंड चक्र सामग्री सब है मिट्टी हो तो घट बनेगा मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा मृत सत्य घट सत्व इसको होता अन्वय कारण सत्य कार्य सत्वम ये यत सत्व यद सत्वम ने यद अभाव तद अभाव मिट्टी नहीं तो घट बन जाएगा मिट्टी अभाव से घट अभाव ही हो गया व्यतिरेक दोनों का कारण का अभाव हो तो कार्य का अभाव ये व्यतिरेक सहचार साथ साथ कारण नहीं तो कार्य नहीं बनेगा और कारण है तो कार्य बनेगा अन्वय सहचार हुआ इससे निश्चय होता है मिट्टी घट का कारण मिट्टी नहीं तो घट बन जाएगा मिट्टी है तो घट बन जाएगा इतने मिट्टी आपको देंगे घट बना दो वही मृत सत्य घट सत्व का अर्थ मृत इतर सकल कारण सत्य मिट्टी से बिना सब कारण है सब कारण होने पर मिट्टी होने पर घट बनेगा जब मृत सत्य घट सत्व ये अर्थ नहीं कि केवल मिट्टी होने से घट बन जाएगा कारण सामग्री से कार्य बनता है एक कारण से नहीं मृत सत्व घट सत्व का अर्थ है मृद इतर मृत से अन्य भिन्न अन्य कारण सब होते हुए मिट्टी है तो घट बनेगा मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा मृद इतर सकल कारण सत्वेपि मृत सत्य घट सत्व मृद अभाव घट भाव मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनेगा इसे मृत घट से कारणम घट का कारण मिट्टी निश्चय होता है इसी प्रकार यहाँ भी निदान है संसार का कारण अन्य व्यतिरेक अन्य व्यतिरेक से अविद्या सत्य संसार सत्वम अविद्या भाव संसार भाव अविद्या नहीं तो संसार नहीं अविद्या का दो रूप है एक आवरण रूप एक विक्षेप रूप आवरण तो ज्ञान ढाक कर रखा है विक्षेप उसको अन्यथा दिखाता है विक्षेप है शक्ति अविद्या में अन्यथा दिखाने वाला रज्जु का नहीं ज्ञान नहीं तो रज्जु का आवरण है रज्जु आवरण का कार्य सर्प विक्षेप सर्प दिखता है सुसुप्ति अवस्था में जो विपरीत ग्राहक अविद्या है विक्षेप प्रति विक्षेप करने वाली अविद्या वो नहीं रही द्वैत प्रत्युपस्थापिक अविद्या नहीं रही आवरण तरह तो रहेगी आवरण रहने पर भी आवरण रहता अविद्या तभी अविद्या रहने से आगे फिर जगता है रहने पर विक्षेप नहीं होने से इतनी शांति मिलती है सुसुप्ति अवस्था में विक्षेप नहीं स्वप्न में जागृत में अन्यथा ग्रहण स्वरूप का अग्रहण तीनों अवस्था में स्वरूप का अज्ञान अधिष्ठान ब्रह्म अपने स्वरूप प्रत्येक बिना ब्रह्म उसका अज्ञान जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों में बराबर है यह हो गया अग्रहण अज्ञान आवरण और उसका कार्य विक्षेप अन्यथा ग्रहण अन्यथा ग्रहण जागृत में भी है और स्वप्न में भी है सुश्रुति में अन्यथा ग्रहण नहीं है अन्यथा ग्रहण नहीं रहने पर सुश्रुति इतना अच्छा लगता है सुश्रुति में जाना सो चाहते हैं सब छोड़ कर सो जाते जितने विषय हो धन संपत्ति परिवार है सब कुछ है सब छोड़ कर सो जाता है सो जाता है तो सब भय नहीं लगता है श्वास चलता है कौन बंद हो जाए तो डर लगता है किसको दायित्व देना नहीं पड़ता है बीमारी होने पर भय लगेगा नहीं तो भय नहीं है निश्चिंत सो जाते आराम से कितना आनंद उसमें सुसुप्ति में जैसे भीख मगा को जितना आनंद है सुसुप्ति अवस्था में सम्राट को उससे अधिक आनंद मिलेगा क्या बड़े-बड़े खाट पलंग बड़े मकान में बड़े सजा बड़े-बड़े बहुत कीमत सजा सोया कर सोएगा और भीख मगा पेड़ के नीचे कोई लौट गया कब खड़िया सुसुप्ति अवस्था में दोनों गाढ़ निद्रा में है तो किसको अधिक सुख मिलेगा उस समय सब समान है छोटा बड़ा कुछ नहीं रहता है एक समय में गाढ़ निद्रा अवस्था में भगवान सब को समान बना देते हैं झूठा अभिमान करता है व्यक्ति अब झूठा अभिमान करता है जागृत सपने में सुषुप्ति अवस्था में बराबर बल्कि बड़े-बड़े करोड़पति को नींद इतनी नहीं लगती है जितने पेड़ के नीचे सोने वाला उनको मच्छर भी नहीं काटते हैं काटने पर भी इतने गाढ़े निद्रा सो जाते हैं बड़ा आनंद से अधिक आनंद किसको मिला जो गाढ़ निद्रा में ज्यादा देर सोता है उसको मिलेगा या करोड़पति को मिलेगा तो उस समय बड़े करोड़पति दुखी होता है मुझे क्यों नींद नहीं लगता है और वैसे बिग मगा बड़ा आनंद से सोया हुआ है उनको देखने पर पता चले कितने खुश से सोए बड़ा आनंद से आनंद से कोई थोड़ा रुखा सका कुछ खाया दूसरे दिन को क्या खाना ठीक है नहीं नहाने शेष हो गया तो उस समय बिल्कुल विक्षेप नहीं होने मात्र से इतना अच्छा लगता है और आवरण भी नहीं रहे समाधि अवस्था में आवरण नहीं रहे इतना अंतर है तो आनंद परमानंद उसकी अभिव्यक्ति होती ग्रंथ हो गया प्रतिपादक प्रयोजन कह दे अन्य व्यतिरक हाँ, अन्य व्यतिरक से सिद्ध हुआ ज्ञान शास्त्र भी कारण है युक्ति भी कारण है शास्त्र न्याय से संसार से आत्मिकत्व अविद्या आत्मिकत्व एक ही आत्मा ब्रह्म रूप है वही उसका अज्ञान ही संसार का कारण अन्य की युक्ति है अविद्या सत्वे संसार सत्वम अविद्या भाव संसार भाव जो ज्ञान न हो जाता है संसार नहीं केवल विक्षेप प्रतिपादक अविद्या विक्षेप शक्ति नहीं रहने मात्र से जन्म मरण सुख दुख सुश्रुति काल में नहीं है ये अन्य वेदृष्ट निश्चय होता है जब अज्ञान पूरा नष्ट हो जाए आवरण भी नहीं रहे बिल्कुल आनंद परमानंद अभिव्यक्त होता है शास्त्र भी प्रमाण न्याय युक्ति वे शास्त्र युक्ति बताएंगे अभी प्रमाण है अविद्या ही कारण बंधन का ॐ सहनाववतु